लिए छांदोग्य उपनिषद द्वितीय अध्याय के पंचदश खंड तक कुछ विचार हो गया था आगे सोलह खंड आरंभ होना है विंश खंड तक उपासना इसी चलती रहेगी उसके आगे तो कुछ विशेष आएंगे तो पूर्व में पर्जन्य दृष्टि से उपासना बताई गई थी चतुर्दश खंड में तो ये ऋतु व्यवस्था पर्जन्य के अधीन है दृष्टि के अधीन है इसको लेकर के कहते हैं टीका में बोलता बताया पर्जन्य आय तत्व ऋतु व्यवस्था आया ऋतु की जो व्यवस्था होती है पर्जन्य के अधीन है दृष्टि के अधीन है उस उस ऋतु में वो ऐसे प्रकार की दृष्टि होती है दृष्टि के अधीन है पर्जन्य माने गिरने वाले जल को पर्जन्य बोलते हैं तो पर्जन्य आय तत्वात ऋतु व्यवस्था आया तद दृष्टि अनंतरम ऋतु दृष्टि में आचष्टे कहा इसलिए पर्जन्य दृष्टि के अनंतर ऋतु दृष्टि का कथन करते हैं ये बोला चाह रहे तो वसंत इत्यादि मंत्र है वसंतो हिंकार ग्रीष्म प्रस्ताव वर्षा उद्गीत शरत प्रतिहारो यमंतो निधनम एतद्वैराजम ऋतुषु प्रोतम वसंतो हिंकार ग्रीष्म वर्षा उद्गीत शरत प्रतिहारो हेमंतो निधनम एतद्वैराजम ऋतुषु प्रोतम वसंतो हिंकार बसंत दृष्टि से बसंत ऋतु दृष्टि से हिंकार की उपासना करें और ग्रीष्म ऋतु दृष्टि से इसकी प्रस्ताव की भक्ति की उपासना करें और वर्षा ऋतु दृष्टि से उद्गीत भक्ति की उपासना करें शरत दृष्टि से प्रतिहार भक्ति की उपासना करें हेमंत दृष्टि से निधन भक्ति की उपासना करे ये बैराज शाम है ये बैराज शाम ऋतु में उत्प्रोत है भाष्य में इतना बोल दिए बसंत हिंकार प्राथम्य प्रथम है वो ग्रीष्म प्रस्ताव इत्यादि पूर्ववत पहले जैसा ही है ग्रीष्म ऋतु आने पर वर्षा के लिए प्रस्ताव रखते लोग बारिश होने वाले हैं बोलते हैं इत्यादि और वर्षा श्रेष्ठ है इसलिए उसको उदगीर बोल दिया है और शरद में प्रतिहार हो जाने इधर उधर जाने का काम हो जाता है इसलिए प्रतिहार बोल दिया इत्यादि आगे मंत्र है

सय एवं एतद्वैराजमृतुषु प्रोतं वेद

झंकार आदि की उपासना जो करता हो कि बैराज शाम में बैराज शाम ऋतु में उत्प्रोत ऐसा जो समझता हो तो विराजती प्रजा पशुवीर होते वो सुशोभित हो जाता है संतान के द्वारा पशुओं के द्वारा ब्रह्मवर्चस माने अपने वृत्त स्वाध्याय और वृत्त जनित तेज एक है आचार और स्वाध्याय आचरण से भी दूसरे लोग दब जाते हैं आचारशील व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति दब जाता है और स्वाध्याय विद्वान होगा उसी पास में करता है सुशोभित हो जाता है सर्वम आयु रीति पूर्णायु सौ साल की आयु पूरा करके जाएगा योग जीवती उज्जवल जीवन होगा उसके महान प्रजया पशु निर्भवती संतान से भी महान होगा पशुओं से भी महान होगा कीर्ति से भी महान होगा महान कीर्ति ख्याति भी बहुत बड़ी थी उसकी किंतु उसके लिए एक व्रत है ऋतु न नित्य तत्व्रतम ऋतुओं की निंदा न करे जो भी ऋतु आए सहन करे चाहे शरद ऋतु चाहे शिशिर ऋतु आए चाहे हेमंत आए चाहे ग्रीष्म आए सब में समदृष्टि रखे उसके लिए व्रत है ठीक है हम कहते हैं वैराज्य से सामलो युक्तम ऋतु सु प्रोतत्म प्रोतत्व वैराज शाम का ऋतु में जो कहा गया वो है तेषाम स्वधर्म ही रहा क्योंकि उनके इसलिए अपने धर्म है ऋतु में ऋतुओं में अपने धर्म से विराजमान है ऋतु तो इसलिए विराज बैराज शाम ऋतु में प्रोत है कहा यही कह रहे ये भाष्य में कहा ये तत् ऋतु सुप्रोतम देगा यदि इस प्रकार बैराज शाम ऋतुओं में स्थित है ऐसा जो समझता है जानता है विराजती ऋतु पर जैसे ऋतु अपने अपने समय पर सुशोभित होते हैं हर ऋतु अपने अपने समय पर ऋतु शोभित होते हैं इसी प्रकार वो भी विराजती ऋतुवत यथा ऋतव आर्त धर्म ही विराजनते जैसे ऋतु अपने धर्मों के द्वारा आर्त धर्म में ऋतु जनित धर्म ऋतुकाल संबंधी धर्मों को आर्त धर्म कहा जाता है ऋतु संबंधी को आर्त बोला गया ऋतु संबंधी धर्म को आर्त धर्म आर्त धर्म आर्तवय धर्म ही विराजनते जैसे ऋतु अपने अपने समय के अनुसार सुशोभित होते हैं एवं इसी प्रकार वो जो उपासक ही प्रजादिवीर विद्वान ही उत्तम प्रजादि के द्वारा विद्वान भी ऐसे उपासक भी ऐसे सुशोभित होता है बता दिया उत्तम अन्य बाकी सब समान हो गया पूर्वज से हो गया किंतु उसके लिए एक व्रत होगा ऋतु न निंदे तंत्र ऋतुओं की निंदा न करे जो समय जो ऋतु आए उसका सहन करे निंदा न करे घबराएगा टीका में कहते हैं यदवत ऋतु नाम अन्नोत्पत्ति निमित्तवाद विराड़ात्मनश्चर अन्नवाद तस्य तेषु प्रतिष्ठितत्वात् तद्वारा बहिराजम अभिशाम तेषु पुरोतम विभाव कहते देखो जैसे यदवत ऋतु नाम अन्न उत्पत्ति जैसे यदवत मान जिस प्रकार ऋतु क्या होता है अन्न उत्पत्ति के साधन होते हैं अमुक ऋतु में अन्न बोया जाता है अमुक ऋतु में काटा जाता है ऋतु नाम अन्न उत्पत्ति निमित्त ऋतु जितने भी हैं अन्न उत्पत्ति के साधन है निमित्त है और विराट आत्मा नष्ट अन्नत्वाद विराट आत्मा भी अन्न स्वरूप है इसलिए तस्य तेसु प्रतिष्ठित इसलिए विराट आत्मा जो होगा अन्न रूप है वो ऋतुओं में प्रतिष्ठित है तद्वारा बैराज शाम उस अन्न के माध्यम से बैराज शाम भी तेसु प्रोतम होने ऋतुसु प्रोतम इति भाव एक आगे मंत्र है पृथ्वी हिंकारो अंतरिक्षम प्रस्ताव सौरोगीथो सह प्रतिहार समुद्रो निधनम एता सक्वर्यो लोकेशु प्रोता पृथ्वी हिंकारो अंतरिक्षम प्रस्ताव गौरुद्गीतो ऋषभ प्रतिहार समुद्रो निधनम एता सक्वर्यो लोकेशु प्रोता लोक दृष्टि से ये हिंकार आदि की उपासना करनी है इसका नाम है सक्वरीय शाम इसका नाम सक्वरीय है इस शाम का नाम पृथ्वी हिंकार पृथ्वी दृष्टि से पृथ्वी लोक है पृथ्वी दृष्टि से हिंकार भक्ति की उपासना करे और अंतरिक्षम प्रस्ताव अंतरिक्ष दृष्टि से प्रस्ताव भक्ति की उपासना देवर उद्गीत स्वर्ग दृष्टि से उद्गीत की उपासना दिशा प्रतिहार दिशा दृष्टि से दिशा यहाँ उस दृष्टि से प्रतिहार भक्ति की उपासना समुद्रो निधन समुद्र दृष्टि से निधन भक्ति की उपासना ये कहा ये जो शाम है सक्वरियो हो लोकेशु होता सकोर्य ये लोक पे वो करता हैं लोक संबंधी उपासना है ये सबको ये शांत कहते हैं इसको कहा भाष्य में कहा पृथ्वी हिंकार इत्यादि पूर्व तो समान है किंतु सक्वर्य इति बहुवचनम रेवत्य सक्वरी शब्द है बहुवचन में प्रयोग कर दिया सक्वर्य शाम एक वचन होता है शाम तो सक्वर्य बहुवचन कैसे प्रयोग कर दिया ये प्रश्न है सक्वर्य इति नित्यम बहुवचन नित्य बहुवचनांत बहुवचनांत शब्द है इसलिए एक वचन में प्रयोग नहीं हुआ ये स्थिति है जैसे दारा शब्द नित्य बहुवचनांत होता है तो ऐसे सक्वरीय शब्द नित्य बहुवचनांत अपशब्द है नित्य बहुवचनांत है इसी प्रकार सक्वरीय यदि नित्यम बहुवचन नित्य बहुवचनांत शब्द है इसलिए एक वचन में प्रयोग नहीं हो पाया है शाम का विशेषण है सक्वरीय शाम शाम एक वचन है तो सबकोरिया बहुवचन है सक्वरी शब्द का सबकोरिया बनना बहुवचन है किंतु ये नित्य अंत होने से ऐसा प्रयोग किया जैसे अपशब्द शब्द का आप बहुवचन में प्रयोग होता है इसी प्रकार सबको यह ये कहा जैसे रेवत्य बोलेगा रेवती शब्द होता है किंतु बहु रेवती शाम जो होगा नित्य बहुवचनांत होता है आगे आएगा रेवत्य बोलेंगे वहां रेवती का रेवत्य बहुवचनांत होता है वो दृष्टांत के लिए जैसे रेवत्य बहुवचन में प्रयोग होता है एक होने पर भी वैसे सबको भी बहुवचन प्रयोग होता है ये बता सत्वरीय नित्यम बहुवचन सत्वरीय शब्द नित्य बहुवचनांत होने से प्रयोग किया यद्यपि शाम का विशेषण है शाम एक वचन है शाम सत्वरीय शाम ये सत्वरीय शाम है एक वचन शाम हाँ रेवत्य जैसे रेवत्य शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है इसी प्रकार यहां भी सत्वरीय लोकेशु प्रोता ये लोक में प्रोत है लोक दृष्टि से ये सत्वरीय शाम की उपासना माने हिंकारादि की उपासना लोक दृष्टि से हिंकारादि की उपासना करेंगे तो नाम मिलेगा सत्वरीय शाम टीका में कहते हैं ऋतुषु सम्यक वृत्तेशु लोक स्थिति ऋतु ठीक ठीक प्रकार से होने पर लोक स्थिति होती है ऋतु बिगड़ जाए तो लोक स्थिति बिगड़ जाएगी ऋतु सम्यक वृत्तेशु ऋतुओं का आचरण ठीक ठीक होने पर जिस ऋतु में जो होना चाहिए उस ऋतु में वो हो जाए तब लोक स्थिति होने से प्रसिद्ध लोक स्थिति प्रसिद्ध लोक स्थिति की प्रसिद्धि ऋतु दृष्टि अनंतरम लोक दृष्टि न इसलिए ऋतु दृष्टि के अनंतर पश्चात लोक दृष्टि बताते हैं कहा पृथ्वी इत्यादि शब्द से कहा था पृथ्वी हिंकार इत्यादि कथम सत्वर्य इति एक सामनो नामधेय बहुवचनाधि बहुनी सामान्य प्रतीयंत कहते हैं कथम सत्वर्य एक वचन एक वचन साम का सामा शब्द होता है उसका सत्वर्य का प्रयोग कैसे करते हैं बहुवचन विशेषण है सत्वरी तो सक्वरी सामा बोलना चाहिए सक्वरिया कैसा बोलती है ये प्रश्न है कथम सक्वरिया इति सक्वरिया शब्द का प्रयोग कैसे हो गया एकस्य में सामनो नाम है ये है तो एक ही शाम है ये सबको शाम एक ही है तो उसमें बहुवचन कैसे प्रयोग कर दिया एक व सामनो नामधेयम कथम सक्वरिया एक ही शाम का नाम कैसे सक्वरिया बन गया सक्वरी बोलना चाहिए था प्रश्न है बहुवचनाधि बहुनी सामान्य प्रतीयंत कहते हैं बहुवचन का प्रयोग है तो बहुत साम होना चाहिए यहाँ प्रतीत होता है सबको यह बोला है तो साम भी बहुत होंगे ऐसा प्रतीत होता है ये शंका आ गई उसके उत्तर में कहा सकपुर नित्य बहुत बहुवचन सक्वरी शब्द नित्य बहुवचनांत है हाँ, इसलिए ऐसा किया एक वचन होता ही नहीं जैसे अपशब्द नित्य बहुवचन प्रयोग होता है तो सकोरी सकोरी सकोरियो सकोरिया ऐसा नहीं चलता है केवल सबको यह बहुवचन ही चलेगा नित्य बहुवचन बहुवचन समझेगा नित्य बहुवचन तो वयत्र तुल्य नित्य बहुवचन देखो दोनों जगह में तुल्य है कहते हैं दृष्टांत देंगे रेवत्य का किसका देंगे रेवती शब्द है किंतु बहुवचन में चलता है रेवत्या बनता है शाम की विशेषण बनने पर नित्य बहुवचनत्व उभयत्र तुल्य द्योतनाय बक्षमा दृष्टांति नित्य बहुवचनांत जो देना है दोनों स्थिति में रेवत्य में भी दिखता है सप्तरीय में भी दिखता है वैत्र तुल्यम दोनों में समान है ये दिखाने के लिए ये ज्योतित करने के लिए पक्षमाणम दृष्ट आगे कहना है रेवत्य शाम आगे आएगा किंतु उसी को दृष्टांत बना देते हैं रेवत्य युवा बोल दिया ये कहा महानामनीषु ऋक्षु सत्कुरियो गीयंते कहते हैं उन ऋचाओं में सत्कुर्य शाम का गान होता है कौन एक महानाम नाम की ऋचाएं हैं महानामनीषु ऋक्षु महानाम नाम के ऋचाए हैं मंत्र है महानाम नाम के वहां पर सबको ऋषाम का गान होता है उन ऋचाओं में देखा महानाम निशु ऋक्षु मानी ऋचु ऋत शब्द का ऋक्षु सप्तम महानाम वाले ऋचाएं जितने हैं उनमें सबकुर्य गीयते सबकुर्य शाम का गान होता है तासाम च और जो महानाम ऋचाओं में तासाम ऋचाम उन ऋचाओं में आपो वही महानामनी इति अद्भि संबंध स्मृता वहां कहा है ऋचाओं में महानामनी को किस क्या कहा आपो वही महानामनी कहा अब शब्द से कहा गया इसको महानामनी को किस शब्द से अब शब्द से कहा आपो वही महानामनी इति अद्भि संबंध स्मृता महानामनी ऋचाओं में जल का संबंध दिखाया है आपो वही महानामनी करके महानामनी ऋचाओं में जल का संबंध दिखाया और अब सुलोका प्रतिष्ठिता जल में ही तो लोग प्रतिष्ठित हैं इति श्रुतम ऐसा भी सुना है अब सूर्य होता प्रतिष्ठिता जल में लोग प्रतिष्ठित है ऐसा सुना ये भी श्रुति में कहीं सुना है यथाच अस्मात संबंध यही संबंध है ये अब अपशब्द देख करके बहुवचन कर दिया सब कोर्य को अपशब्द का शब्द का संबंध दिखाई पड़ता है यहाँ ठीक है यथाच अस्मात संबंधात लोकेशु सत्कोर्य प्रतिष्ठिता इत्यादि इस प्रकार ये यही संबंध से लोक में सत्वर्य शाम प्रतिष्ठित है ये जाना जाता है कहा लोकेशु इत्यादि बता दे आगे मंत्र है सय एवं एता सत्वर्यो लोकेशु प्रोता वेद लोक लोकी भवती सर्वमायुरेति योग जीवती महान प्रजया पशुभिर्भवती महान कीर्त्या लोकान्न निंद तद्व्रतम सया एवं सत्वर्यो लोकेशु प्रोता वेद लोकी भवती लोक जीवती महान प्रजया पशुर्भवती महान कीर्त्या लोकान्न निंद तत्व्रतम स यह जो कोई भी हो उपासक एवं इस प्रकार से सत्पुरी शाम को लोक में प्रतिष्ठित समझता है जानता है एवं एता सपकोरियो ये सपकोर्य शाम है लोकेशु प्रोतावेद लोक में प्रतिष्ठित है ऐसा जो समझता है वो लोकी भवि लोक वाला होगा लोकी भव लोको ऐसे अस्थिति लोकी इन्हें प्रत्यात है लोकवान होगा सर्वम आयु रहती संपूर्ण आयु होगा अल्पायु नहीं होगा योग जीवती उज्जवल जीवन प्राप्त करेगा मान स्वपर उपकारक जीवन होगा उसका अपना भी उपकारक दूसरे तो उसके योग कहा योग जीवन कहा महान प्रजा पशु भगवती प्रजा से भी महान संतान से भी महान पशु से भी महान और कीर्ति से भी महान होगा किंतु लोकान न निंदे तब प्रथम कोई भी लोग उसकी निंदा न करे स्वर्ग हो चाहे नरक हो कोई भी हो निंदा न करे उसके लिए व्रत होगा सबको जो शाम के उपासक के लिए ये कहा अच्छा टीका में कहते हैं ठीक है नहीं ठीक है भाई भाष्य है थोड़े तो से लोकी भगवती माने क्या है लोक वाले तो सभी हो जाते हैं सबको कोई ना कोई लोक तो मिल ही जाएगा चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले लोक के अभाव तो कोई भी नहीं होगा किंतु लोकी भगवती का फिर क्या अर्थ होगा तब कहते हैं लोकी भगवती माने लोक फल नहीं विचते हैं लोक में पहुंचना लोक का जो फल मिल रहा वहां पहुंचने पर जो फल मिल रहा इससे युक्त होगा क्या लोकान न निंदे तत्प्रथम बोल दिया लोगों की निंदा न करे उसके लिए प्रत्यय कहा आगे शक्वरे शाम के बाद आगे रेवत्य शाम की उपासना बताते हैं अजाहिंकारो अवय प्रस्ताव भाव उद्गीतो स्व प्रतिहार पुरुषो निधनम एतारेवत्य पशुषु प्रोता अजाहिंकारो अवय प्रस्ताव भाव उद्गी उद्गीतो प्रतिहार पुरुषो निधनम एतारेवत्य पशुषु प्रोता प्रोता अजाहिंकार अजादि बकरी दृष्टि से हिंकार की उपासना करेगा ये पशु दृष्टि से उपासना करने ये हिंकार आदि पांच है हिंकार प्रस्ताव विद्युत प्रत्यार निधन की उपासना है अवय प्रस्ताव भेड़ दृष्टि से अभी माने भेड़ अवय भेड़ भेड़ दृष्टि से प्रस्ताव भक्ति उपासना करे गाव उद्गीत गो दृष्टि से उद्गीत भक्ति उपासना करे अश्व प्रतिहार अश्व दृष्टि से प्रतिहार भक्ति उपासना पुरुष पुरुष दृष्टि से निधन भक्ति की उपासना करे मानी मनुष्य दृष्टि से एता रेवत्य पशु से ये रेवत्य नाम के शाम है बहुवचनाम नाम का एक रेवत्य शाम तो एक वचन है रेवत्य पशु सुता पशुओं में प्रतिष्ठित है कहा पशु संबंधी है कहा टीका में कहते हैं पशु नाम लोक है पशुओं का लोक का कार्य होने से लोक दृष्टि अनंतर हम पशु दृष्टि में उपनिषद लोक दृष्टि के अनंतर पशु दृष्टि को उपन्यास करते हैं अजय इत्यादि का आवास में अजय काल इत्यादि पूर्वत पहले जैसा ही है पशु सुख होता बोल दिया ठीक है कहा रेवत्य साम नाम धेयम रेवत्य ये सा, एक शाम का नाम है ये नामधेय बने नाम धेय प्रत्यय स्वार्थ में होता है नाम शब्द से रेवत्य साम नाम धेयम रेवत्य शब्द का अर्थ होता है शाम का नाम पूर्ववत नित्य बहुवचनांत जैसे पूर्व सक्रिया बहुवचनांत था वैसे रेवत्य बहुवचन है तो एक ही शाम का विशेषण है शाम एक है किंतु पहले जैसे है सत्कोरिया शाम जैसे बहुवचनांत है वैसे रेवत्य भी बहुवचनांत है पशवो वही रेवती इति श्रुत्यंतरम आश्रित तो ये पशु में उत्प्रोत कैसे है ये कहते हैं कहीं श्रुति है पशवो वही रेवती पशु ही रेवती शाम है ऐसा कहा है कहीं श्रुति इसी को लेकर के पशु दृष्टि से रेवत्य शाम की उपासना बताई आगे मंत्र स एवं एता रेवत्य पशुषु प्रोता वेद पशुमान भवती योग जीवती महान प्रजया पशुभिर्भवती महान पशु पशुन्न निंद्यतव्रतम सय एवं एता रेवत्य पशुषु प्रोता वेद पशुमान भवती जीवती महान प्रजया पशुवीर्भवती महान कीर्त्या पशुन्न निंदेत तत्प्रतम स एवं एता रेवत्य पशुषु प्रोता वेदका जो कोई भी व्यक्ति है इस प्रकार जो रेवत्य शाम है इसको पशुओं में प्रतिष्ठित ऐसा जो जानता है वो पशुमान होगा बहुत पशु होंगे उस घर में पशुमान भवती ऐसा सर्वम आयु संपूर्ण आयु प्राप्त करेगा योग जीवती स्वपर उपकार करने के सामर्थ्य युक्त होगा जीवन उसका उज्ज्वल जीवन होगा महान प्रजया पशु विभूति प्रजा आदि से संतान से पशुओं से कीर्ति से महान होगा किंतु पशु न निंदे तब प्रथम कहा उसके लिए व्रत है जो निवत्य शांति उपासक उपासक है उसके लिए पशुओं की निंदा न करें ये होगा अच्छा। भाष्य में कहते हैं पशु निंदे तब प्रथम इतने बोल दिया और कुछ नहीं रहा ठीक है पशुओं की निंदा न करे उसके लिए व्रत है आगे एक और भी सखंड है आगे लोमाहिंकार प्रस्ताव मांसमुदीथो अस्थि प्रतिहारो मज्जा निधनम एतद्यज्ञायज्ञीयम अंगेशु प्रोतम लोमाहिंकार प्रस्ताव मांसमुदीथो अस्थि प्रतिहारो मज्जा निधनम एतद अंगेशु प्रोतम पशु दृष्टि के अनंतर अब यज्ञ शाम के उपासना होंगे अंग शरीर के अंग दृष्टि से शरीर के अंग दृष्टि से यज्ञ यज्ञ शाम की उपासना इस शाम का नाम होगा यज्ञ ऐसा नाम लोभा हिंकार शरीर के सबसे बाहर होता है रोम लोम वो हिंकार मान लोक दृष्टि से इंकार की उपासना कर सबसे बाहर है और त्वक प्रस्ताव और त्वक प्रस्ताव है और मांसम उद्गीत शरीर का मुख्य होता है मांस इसलिए उद्गीत मांस दृष्टि से उद्गीत उपासना कर अस्थि प्रतिहार और अस्थि दृष्टि से हड्डी दृष्टि से प्रतिहार व्यक्ति की उपासना करें क्यों हड्डी को इधर उधर ले जाया जाता है प्रतिहरण होता है मज्जा निधनम हड्डी के भीतर में जो विशेष मांस होता है जिसको मज्जा बोलते हैं वो निधन उसी में सारे शरीर उसी में शक्ति वही है मज्जा में ही है वो निधन है ये तद एक एकीयम प्रोतम ये जो शाम है ये तद शाम है एक एक शाम है शरीर के अंगों में प्रतिष्ठित है ये बता दिया ठीक है हमें कहते हैं पशु विकार पयोद अध्यादि ना पुष्टि रंगाना दृष्टा पशुओं का जो विकार है दूध दही आदि उसके द्वारा शरीर की पुष्टि देखी गई इसलिए पशु दृष्टि से उपासना के अंतर शरीर के अंग दृष्टि से उपासना देता कहा पशु विकार पयोध्यादि नाम पशुओं का जो विकार है दूध दही आदि उसके द्वारा पुष्टि अंगाराम दृष्टा शरीरों की पुष्टि शरीरों के अंगों की पुष्टि देखी गई है इति पशु दृष्टि अनंतरम अंग दृष्टि इसलिए पशु दृष्टि के अनंतर शरीर के अंग दृष्टि करके उपासना करने को बताया प्रश्न का लोभ आकाश में कहा लोभो हिंकारो देहावयवा नाम प्राथम्य शरीर का जो लोभ है उस दृष्टि से हिंकार की उपासना वो शरीर के अवयव में, में प्रथम है सबसे पहले लोभ दिखाई पड़ता बाहर होता है लोभ हिंकार देह अवयवान देह के सारे अवयवों में जितने अवयव शरीर में टुकड़े हैं प्राथम्य लोम की प्राथम्य है सबसे पहले वही मिलता है बाहर दूसरा त्व तो प्रस्ताव प्रस्ताव के अहंकार के बाद में प्रस्ताव यहाँ लोम के बाद में त्वक यही प्रस्ताव आनंतरियात बोल दिया उसके बाद होने से मांसम उदगित श्रेष्ठ शरीर में श्रेष्ठ मांस है जब तक मांस है तो अच्छा लगता है शरीर मांस गया तो झुरिया पड़ी कुरूप हो जाता है श्रेष्ठ मांस में है मांसम उदगित मांस दृष्टि से उदगित भक्ति उपासना करेगा श्रेष्ठ श्रेष्ठ है सामों में उद्गीत श्रेष्ठ है शरीर में मांस श्रेष्ठ है मांस नहीं तो डर लगेगा देखने से वही व्यक्ति से ऐसा हो जाता है मांस की श्रेष्ठता है जब तक शरीर में मांस है तब तक सुंदर लगता है <clears throat> श्रेष्ठ है अस्थि प्रतिहार हाँ, अस्थि दृष्टि से प्रतिहार भक्ति की उपासना हड्डी दृष्टि से क्यों हड्डी को इधर उधर ले जाया जाता है हाँ, कौआ आदि कुत्ता आदि ले जाता है देखा मज्जा निधनम अंत्या कहा मज्जा अंत्य अंत्या मज्जा को निधन करना अंतिम है वो शरीर का अंतिम धातु है वो मज्जा इस प्रकार यहां भी अंतिम है निधन ये कहा एतद यज्ञायज्ञम नाम ये नाम के साम है एतद यज्ञायज्ञम नाम साम इसका नाम है एक ऐसा नाम वाला साम देह अवयवेश शरीर के अवयव में प्रतिष्ठित है ठीक है कहते हैं रसो वही यज्ञा यज्ञीयम श्रुते कहा यज्ञा एक एक शाम को रसो वही कहा है रस कहा है रसो वही यज्ञा यज्ञीयम ऐसा है ऐसा श्रुति होने से और अन्न रस विकार है ना लोमादि नाम संबंध अन्न के जो खाया हुआ अन्न का रस के विकार है ये सब लोमादि जो खाया हुआ अन्न जल का रस होगा बाष्पीकरण होगा उसका विकार है लोमादि सारा इसलिए रसो भाई यज्ञायज्ञम श्रुते यज्ञायज्ञ के शाम को रसो रस शब्द से कहा है रस है वो कहा और अन्नरस विकार लोमादि नाम संबंधात वो जो रस का संबंध है किसके साथ शरीर के अंगों के साथ क्यों ये भी शरीर के रस का विकार है माने खाया हुआ अन्न का रस का विकार है शरीर का अवय यज्ञ शाम अंगेशु प्रतिष्ठित इसलिए यज्ञायज्ञ शाम जो होगा यज्ञ यज्ञ साम अंगेशु प्रतिष्ठा शरीर का अंगों प्रतिष्ठित है एक तत्त ये यज्ञ यज्ञ नाम साम देहाभवेशु प्रोतम ये बोला अगे <clears throat> मंत्र स एवं ये तद यज्ञायज्ञीयम अंगेशु प्रोतम वेद अंगी भवती

भवति माङ्गेन विहूर्च्छति प्रजया पशु महान् कीर्त्या संवत्सरम् मज्ञो नाश्नीयात् तद्रत मज्ञो नाश्नीयादिति स या जो कोई भी हो एवं ये तद हम अंगे सुप्रोतम होगा शरीर के अंग दृष्टि से इस यज्ञायज्ञ के साथ उपासना जो करता हो तो क्या होगा अंगी भवती शरीर क्या अंग सबके सब सर्वांग होगा उसका अंग वाला होगा शरीर का अंग से रहित नहीं होगा अंगी भवती बोल दिया पूर्णांग होगा वो और नागेन सती अंग कुटिल नहीं होगा आख कान हाथ पैर आदि सब ठीक ठाक रहेंगे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा का कौटिल्य धातु है कुटिल नहीं होगा अंगे ना न भिवृषति अंग के द्वारा कुटिलता नहीं आएगी उसमें कहा कुछ आदि नहीं होगा सर्वमायु रेती पूर्ण आयु प्राप्त करेगा जीव जीवती उज्जवल जीवन होगा महान प्रजा पशु निर्भवती प्रजा पशु आदि के द्वारा महान होगा महान कीर्ति कीर्ति से भी महान होगा किंतु उसके लिए व्रत है संबत्सरम मजगो नाशनीय मज्ञा माने मज्जन शब्द है द्वितीय का बहुवचन मज्ञा बना हुआ है मांसाहानी उसका अर्थ होता है एक संवत्सर एक साल तक मांस अवक्षण न करे तत्प्रथम उसके लिए प्रत्यय अथवा मजग्यो नास्ती याद जीवन भर मांस रखा है ये भी हो सकता है दो बार बोला है संवत्सर मजगो ने वहां संवत्सर विशेषण लगा दिया अगली बार कहा मजगो नाशनी याद खाली इतना बोल दिया जीवन भर मांस अवक्षण न करे उसके लिए प्रत्यय होगा ये कहा भाष्य में कहते हैं अग्नि अंगी भवती ऐसा है ना अंगी भवती ये बताए तो अग्नि भवती अंगी भवती का अर्थ समग्र अंगो भवती इत्यर्थ संपूर्ण अंग होगा उसका या अंगी अंग वाला होगा नांगे न हस्तपादादि न बिहुर नांगे न बिहुर आया हाथ पैर आदि के द्वारा कुटिल नहीं होगा लबड़ा आदि नहीं होगा न कुटिली भवती यह अर्थ आया पंगु कुणिमा इत्यर्थ माने लंगड़ा भी नहीं होगा कुणी माने मस्तूर रही दाढ़ी मूछ रहती भी नहीं होगा दाढ़ी मूछ आदि सब होंगे उसको ऐसा किंतु उसके लिए व्रत होगा संवत्सरम संवत्सर मात्र एक साल के लिए मजगो नाशनिया मजगो माने मांसानी नाशनिया न भक्षय कहा बहुवचनम मत्स्य उपलक्षणार्थम मांसा नहीं खाना तो मछली खाना कोई समझे अरे बहुवचन दिया है मजगे हाँ बहुवचन जो दिया है द्वितीय का बहुवचन है मजगह बहुवचन में मत्स्य उपलक्षण आता हूं एक दिन मांग सब रखा मछली गाय है ऐसा नहीं वो भी नहीं मत्स्य का भी उपलक्षण है ये अथवा दूसरी बार कहा मजगो नाशनी याद कहा मजगो नाशनी याद सर्वदा एवं नाशनी याद एक बार हाँ। कभी भी मांस न खाए ये भी अर्थ होता है तब प्रथम उसके लिए प्रत्यय कहा टीका तो है नहीं आगे मंत्र है आगे अग्निहंकारो वायु प्रस्ताव आदित्य उदीथो नक्षत्राणी प्रतिहार चंद्रमा निधनम देवतासु प्रोतम वायु प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राणी प्रतिहार चंद्रमा निधनम् देवता देवतासु प्रोतम् अग्निर्हिंकार अग्नि दृष्टि से हिंकार भक्ति की उपासना करे ये देवता अग्नि माने आग नहीं अग्नि देवता हर वस्तु में तीन रूप होता है आदि आदि आदिदैविक आध्यात्मिक हम्म। अग्नि शब्द का भौतिक दृष्टि से देखते तो खाना पकाने वाले अग्नि है भौतिक अग्नि वो भौतिक अग्नि है वो अग्नि शब्द का अर्थ ही होता है ये जलाने का काम होता है वो अग्नि और आदिदैविक तो अग्नि देवता जो अग्नये स्वाहा करके डालेंगे हाँ, ये अग्नि को नहीं दिया गया अग्नि देवता के लिए दिया जाता है ये अग्नि में डाला जाता है किंतु उसका भावी का ग्राहक होगा अग्नि देवता अग्नये स्वाहा वो आदिदैविक स्वरूप है अग्नि का देवता अग्नि एक देवता है ये तो आदि भौतिक स्वरूप है जिसमें हम आहुति डालते हैं जो आहुति लेने वाला है वो अग्नि देवता है आहुति का ग्रह और एक आध्यात्मिक होगा सभी वस्तु चिन्ह चिन्ह मात्र होते हैं चेतन अग्नि का जो आध्यात्मिक स्वरूप चेतन होता है ऐसा होता है जैसे गंगा जी है तीन रूपों में पाए जाते हैं जन सामान्य उसको सामान्य जल समझता है पीने का पानी काम, काम आता है न सिंचाई का काम आता है विद्युत उत्पादन आदि का काम आएगा भौतिक जल देखता है भौतिक दृष्टि से देखता है ये गंगा जी के जल को और जो उपासक होंगे उसको आदिदैविक रूप में मकर वाहिनी के रूप में देखते हैं एक भगवती के रूप में देखते हैं उसको उपासक लोग वही गंगा जी देवी के रूप में देखते हैं और जो योगी पहुंचे हुए योगी होंगे सर्वम खलु एकदम ब्रह्म में पहुंचे हुए क्या रूप में देखेंगे चिन्मात्र स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप में देखेंगे अपने अपने दृष्टिकोण से हम व्यवहार करते हैं ये गंगा जी में जन सामान्य केवल कपड़ा धोने का काम करेगा यही करेगा नहाने का काम आता है पीने का काम आता है ये समझता है भौतिक दृष्टि से देखता है तो थोड़ा उपासक जो होंगे वह कपड़ा नहीं धोते उनकी दृष्टि दूसरी है जल दृष्टि नहीं वहां क्या दृष्टि है मकरवाहिनी देवी दृष्टि है और जो पहुंचे हुए योगी लोग होंगे संत महापुरुष होंगे वहां पर न मगरवाहिनी देखेगा न जल दृष्टि होगी उनके चीन मात्र दृष्टि होगी आध्यात्मिक दृष्टि होगी हर वस्तु के तीन रूप होता है आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तो यहां अग्निर हिंकारा जो बोला हुआ है या अग्नि शब्द का अर्थ देवता है यह अग्नि नहीं ऐसा देवता अपने प्रतिष्ठित बोल रहा है शाम को राजन शाम है अग्नि दृष्टि से हिंकार भौतिक उपासना वायु वायु माने भी ये भौतिक वायु नहीं वायु देवता वायु शब्द का देवता लेना है आदिदैविक रूप को लेना है और आदित्य उदगी था आदित्य शब्द से जो सूर्य है उसको लेना सूर्य देवता उदगीत नक्षत्राणी प्रतिहार नक्षत्र दृष्टि प्रतिहार भौतिक उपासना चंद्रमा दृष्टि से निधन की उपासना ये तद राजन देवतासु प्रोतम ये आदि भौतिक रूप में नहीं है सब इनके आदिदैविक रूप में प्रतिष्ठित है शाम राजन शाम नाम लिया है किंतु आदि आदिदैविक रूप में करा देवता दृष्टि से उपासना करते हैं इनको ये शाम को कहा टीका में कहा अग्नि आदि नाम अंगेशु प्रतिष्ठित अग्नि आदि देवता शरीर का अंग में प्रतिष्ठित है अग्नि बाघ उद्वा मुखम प्राविष्ट है ना सारे शरीर के अंग में अग्नि आदि देवता बैठे हुए हैं अधिष्ठात्री देवता है वो ऐसा अग्नि आदि नाम अंगेशु प्रतिष्ठा अग्नि माने खाना पकाने वाले अग्नि शरीर में नहीं देवता अग्नि देवता वायु देवता प्राण रूप से है शरीर में प्रतिष्ठित सारे अग्नि आदि देवता एक अग्नि आदि नाम अंगेशु प्रतिष्ठित अग्नि आदि जो देवता है वो अंगों में शरीर के अंगों में प्रतिष्ठित होने से अंग दृष्टि अनंतरम अग्निया दृष्टि में उत्थापय दी पहले अंग दृष्टि कहा था उपासना में अब इस, इसके अंतर अग्नियादि देवता दृष्टि की उपासना करनी है ये बता रहे संगति लगा दिए तो भाष्य में कहा अग्निहिंकार प्रथम स्थान कहा अग्नि है प्रथम स्थान है हिंकार सबसे पहले है यहाँ भी अग्नि प्रथम है वैसे भी देवताओं में प्रथम अग्नि है जब भी कुछ करना हो तो अग्नि में आहुति देने से सबको मिलेगा किसी भी देवता को पहुंचाना हो तो अग्नि में डालना पड़ेगा आहुति को ऐसे देवता आगे लेते नहीं है अग्नि के माध्यम से खाते हैं अग्नि मुख्य है ये कहा अग्नि हिंकार अग्नि देवता में हिंकार दृष्टि करे प्रथम स्थान तो प्रथम स्थान है देवताओं में प्रथम वो है शाम में प्रथम हिंकार है वायु प्रस्ताव आनंद शाम अग्नि के बाद वायु है और इधर हिंकार के बाद में प्रस्ताव है अनंतर आनंतर ये सादृश्य है आदित्य उदगीत श्रेष्ठिया देवताओं में श्रेष्ठ है आदित्य सब प्रकाश दे रहे नक्षत्राणी प्रतिहारा का प्रतिहृतत्व नक्षत्र दृष्टि से प्रतिहार भक्ति को अर्थ क्यों नक्षत्र इधर उधर जाते हैं देखा है चलते हैं प्रतिहार होता उनका चंद्रमा निधनम कर्मिणाम तनिधान चंद्रमा दृष्टि से निधन भक्ति की उपासना करे क्यों जो कर्मी जो केवल कर्म करने वाले अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाले कर्मी हैं उनको वही पहुंचाया जाता है कहा चंद्रलोक स्वर्गलोक चंद्रलोक स्वर्गलोक चंद्रमा निधनम कर्मीणाम तन निधना तस्मिन निधना उसमें स्थापित हो जाते हैं कर्मी जितने भी केवल कर्मी अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाले एतद राजवम साम ये राजम साम है इसका नाम राजम साम है एतद राजवम देवतासु प्रोतम देवताओं में प्रतिष्ठित है साम देवता नाम दीप्तिमत्वाद कहा देवताओं में प्रतिष्ठित क्यों दीप्तिमान है ऐसा है कहा ठीक है तो है नहीं ठीक थोड़ी सी राजस सामनो राजन से सामनो देवताओं से प्रतिष्ठित हेतु तो महा राजन नाम के शाम को देवताओं में प्रतिष्ठित होने पर कारण बतलाते हैं देवता नाम दीप्तिमत्व देवता दीप्तिमान है अग्नि आदि भी दीप्तिमान है ये कारण आगे मंत्र है साया एवं ये राजनम देवता सुप्रोतम वेद देवता नाम सलोकताम साश्विताम सायुज्यम गच्छति सर्वमायुरेति यो जीवती महान प्रजया पशुर्भवती महान कीर्त्या ब्राह्मणान्न निंदेत तद्व्रतम सय एवं वेद एतासामेव देवतानां सलोकतां साष्टितां सायुज्यं गच्छति सर्वमायुरेति सद्योग जीवति महान् प्रजया प्रसुभिर्भवति महान् कीर्त्या ब्राह्मणान्न निन्द्यत्तद्व्रतम् सय एवं एतद राजनम देवतासु प्रोतम वेद जो कोई भी व्यक्ति हो इस राजन शाम को देवताओं में प्रतिष्ठित है सब जो जानता अग्नि आदि देवता में प्रतिष्ठित है सब जो समझता है ये एवं देवता नाम इन्हीं देवताओं में देवताओं का अग्नि आदि देवताओं का ही सलोकताम साक्षिताम सायुजन तीन में से किसी में जाएगा उसी लोक में जिस समान लोक सलोक देवताओं का जैसा लोक है उसी लोक को ऐसे लोक को प्राप्त करेगा हो सकता है दूसरी बात शाश्वताम जैसे सृष्टि देवताओं की जैसे ऐश्वर्य है वैसे ऐश्वर्य वाला होगा दूसरा सायुज्य देवताओं के सयुग भाव साथी भाव साथ हो जुड़ जाना ऐसा होकर के प्राप्त करेगा कहा दूसरी बात सर्ववायु व्यक्ति ये तो परलोक का फल होगा अदृष्ट फल होगा किंतु दृष्ट फल ये होगा पूर्ण आयु जीवित करेगा जीवित रहेगा उज्जवल जीवन होगा महान होगा प्रजा से पशु भी कीर्ति से महान होगा किंतु उसके लिए व्रत होगा जो राजन शाम की उपासना करता है उसके लिए ब्राह्मणान ननंदे ब्राह्मण की निंदा न करेगा हम्म। उसके लिए व्रत है कहा राष्ट्र में कहते हैं विद्वत फलम माने उपासक का फल उपासक का फल बता विद्वत माने उपासक है उपासक का फल बताते हैं ये में जो अग्नि आदि नाम यही जो अग्नि आदि देवता हैं इनका देवता नाम समान लोकताम साक्षिताम समान विद्युत्व सायुज्यम सयुभावम ये कहा समान लोक को प्राप्त करेगा अथवा साक्षिता बन समान वृद्धि देवता के जितने जिस जिस देवता में जितने ऐश्वर्य वो इतना ऐश्वर्य वाला ये भी हो जाएगा समान वृद्धि सायुज्य भाव और सयुग भाव साथ साथ होना एक देह देहित्व कहा शरीर एक हो आत्मा दो हो ऐसा हो जाएगा एक ही साथ होना जुड़ जाना एक देही देही शरीर एक होगा आत्मा दो होंगे एक शरीर दो प्राण बोलते हैं अत्यंत प्रेम जहां होगा ऐसा बोलते हैं एक शरीर दो प्राण ऐसा बोलते हैं शरीर तो एक है दो प्राण है इसमें ऐसा बोलते हैं हाँ, एक के बिना एक रह नहीं सकता ऐसी स्थिति हो जाने ऐसा बोला जाता है होता नहीं बोला जाता है ऐसे <clears throat> एक देही देही तुम कहा एक देह में देही रहना है देही माने आत्मा एक देही में दोनों आत्मा होना ऐसा फल होता है सही बात प्राप्त साथ में हो जाना कभी भी अलग नहीं होना ऐसी स्थिति है बा शब्दों अत्र लुप्तो द्रष्टव्य ये जो सलोकताम साक्षिताम सायुज्यम बा ऐसा बा होना चाहिए किंतु लुप्त हो गया ऐसा समझना चाहिए देखना चाहिए क्योंकि बा के बिना तीनों में से कोई एक प्राप्त करना तीनों प्राप्त तो होगा नहीं भिन्न भिन्न सलोकता कहा सायुज्य कहा विरोधी है सब तीनों होना तो संभव नहीं है तीनों में से कोई एक को प्राप्त करेगा अर्थ करना इसलिए बा शब्द यहाँ लुप्त हो गया ऐसा समझना चाहिए मंत्र में बाहर नहीं है भाष्यकार संगति लगा रहे हैं बा शब्दों अत्र लुप्तो द्रष्टव्य ये जो सलोकताम साक्षिताम सायुज्यम बा ऐसा होना चाहिए पाठ मैंने लुप्त हुआ ऐसा समझना वहां नहीं तो संगति नहीं लगे क्यों सलोकताम बा इत्यादि समझना सलोकताम बा साक्षिताम बा सायुज्यम बा ऐसा अर्थ करना भावना विशेषता फल विशेष कौन सी भावना उसकी है लोक विशेष की भावना है तो सलोकता प्राप्त कर जाएगा ऐश्वर्य विशेष की भावना है तो ऐश्वर्य विशेष प्राप्त करेगा सयुग भाव की भावना है तो सयुग भाव की यह था माम प्रपद्यंते ताम तथा बाजार में जैसी भावना जैसी होगी फल वैसे होना तीनों में से जैसी भाव से कर रहा हो उपासना वैसे फल वाला होगा ये कहा भावना विशेषता फल विशेष उपत्ति है यही है भावना विशेष से जिस भावना से चला फल भी उसी भावना से होती है यहां भी हमारे लोक व्यवहार में भी ऐसा होता है शत्रु भावना से आएगा तो डंडा मिलेगा फल मिलेगा उसको मित्र भाव से आएगा तो अलग फल मिलेगा जैसी भावना वैसी फल वैसे ही फल होता है गच्छति माने प्राप्त होती हाँ, सायुज्यम गच्छति का मतलब प्राप्त होती ये कहा समुच्चय अनुपत्य से दूसरी बात तीनों का समुच्चय होना संभव नहीं है सलोकता सायुज्यता होना संभव नहीं है और साष्टिता ये माने बराबर एक होना संभव नहीं है समुच्चय होना संभव नहीं तीनों का समुच्चय एक ही में होना संभव नहीं इसलिए बा शब्द यहाँ लुप्त हुआ समझना चाहिए ये कहा तीनों में से कोई एक प्राप्त करेगा कौन सी भावना से कर रहा है उसी लोक विशेष की भावना है तो लोक प्राप्त करेगा हाँ, ऐश्वर्य विशेष भावना से कर रहा था तो ऐश्वर्य प्राप्त करेगा सयु भाव से किया हो तो सयु भाव प्राप्त करेगा ये कहा किंतु व्रत होगा उसके लिए ब्राह्मणानंदित तत्प्रथम ब्राह्मणों की निंदा न करे उसके लिए व्रत होगा ये बता दिया एते वही देवा प्रत्यक्षम यद ब्राह्मणा कहा एते ब्राह्मणा यद यस्मात यद का अर्थ यस्मात एते ब्राह्मणा प्रत्यक्षम वही देवा प्रत्यक्ष देवता यही ब्राह्मण है ऐसा आया है श्रुति में कह प्रत्यक्ष देवता यही है वो देवता तो प्रत्यक्ष हो नहीं पाते यही प्रत्यक्ष देवता है एते ब्राह्मण यद यद शब्द यस्मात वही अवश्य ही एते ब्राह्मण देवा एते देवा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देव यही है ऐसा है देव ब्राह्मण निंदा देवनता वह ब्राह्मण की निंदा देवता की निंदा हो जाती है इसलिए ब्राह्मण की निंदा न करे टीका हो जाते हैं फल विकल्पार्थम बा शब्द से अत्र सत्व कथम वाक्यम सात फल विकल्प करने के लिए फल क्या है सलोकताम साष्टताम सायुज्यम बा ऐसा बा शब्द लगाना भाष्यकार ने कहा तो फल विकल्प करने के लिए बा शब्द इस मंत्र में होने पर मान लो बा शब्द लगाने पर सत्य प्रथम वाक्य में वाक्य किस प्रकार होगा ये वाक्य कैसे बनेगा एक प्रश्न उठा तो उसको तुमने कहा सलोकताम बा साष्टताम बा सायुज्यम बा गच्छती ये फल ये वाक्य ऐसा बनेगा ये कहना है प्रथम पुनर् एक उपासना फलत्र विकल्प थे उपासना एक है ये राजम शाम की उपासना एक है तीन फल के विकल्प चाहे ये चाहे वो चाहे वो भावना के आधार पर कैसे बोल दिया तीन फल कैसे कहा प्रश्न आया कथम पुनर् एक उपासना उपासना एक है उसमें फलत्र कथम विकल्प थे तीन फल के विकल्प कैसे कर दिया प्रश्न उठा तो कहते हैं भावना विशेषता फल विशेष उपत्ति नियम है भावना विशेष से फल विशेष होता है लोक व्यवहार में वैसे होता है जैसी भावना से सामने आएगा वैसे भाव में फल मिलेगा उसको शत्रु भाव से आया होगा तो अलग फल मिलेगा मित्र भाव से आया होगा अलग फल मिलता है भावना विशेषता फल विशेष हो सकते हैं भावना विशेष से फल विशेष की सिद्धि हो जाती है का में नो फल त्रयम अत्र समुचितम इष्यताम किमित बासत्व गृहत्व विकल्प कहा तीनों फलों को समुच्चय करके एक बनाइए एक ही वाक्य बनाइए आप बा शब्द ला करके विकल्प क्यों किया जाता बा शब्द है ही नहीं मंत्र में और आप बा शब्द लगा करके इसको विकल्प क्यों करते हैं अथवा अथवा क्यों बोलते हैं तीनों को समुच्चय करो तीनों फलों एक ही को मिलेगा कहते हैं नहीं समुच्चय अनुपत्य समुच्चय होना संभव नहीं है क्यों सलोकता भी प्राप्त करे और साहित्य भी प्राप्त करे ऐसा संभव नहीं है संभव ये कहते हैं नहीं मिथो विरुद्धम फल प्रयम परस्पर विरोधी फल वाले हैं तीनों तो एकत्र समुच्चय तुम न, न सक्यम कहा एक ही में समुच्चय करना संभव नहीं अतो विकल्प सिद्धि इसलिए बाल लगा के विकल्प ही करना उचित होगा इसमें एक भावना विशेष से फल विशेष विकल्प करना ठीक होगा ननो देवता दृष्टिया राजध सामो ध्यानार्थ देवता दृष्टि से राजन शाम की उपासना करने से ध्यान मानी उपासना यही चिंतायाम चिंतन ध्यान आदि उपासना देवता न निंदित वक्तव्य कहना चाहिए था देवता न निंदित बोलना चाहिए देवताओं की निंदा देवता की उपासना हो रही ना यहाँ तो देवता न निंदित तत्प्रथम बोला था ब्राह्मण न निंदित कैसे बोल दिया उपासना देवता दृष्टि से हो रही है और ब्राह्मण को ब्राह्मण की निंदा न करे कैसे बोला ये शंका है शंका है देवता दृष्टिया राजन शाम ध्यान देवता दृष्टि से राजन शाम की चिंतन है यहाँ उपासना है देवता नंदित तद बोलना चाहिए था देवता ने इति वक्तव्य ऐसा कहने वाला हो कहना चाहिए था किंतु प्रथम अन्यथा थे या अन्यथा क्या कहा ब्राह्मण निंदित तो कैसे बोल दिया ये शंका आगे तो कहा तथा उसके तुमने कहा एते वही देवा प्रत्यक्षम ब्राह्मणा बोल दिया एते ब्राह्मणा प्रत्यक्षम देवा ये जो ब्राह्मण है प्रत्यक्ष देवता यही है ऐसा श्रुति बोलती है पहले तो ब्राह्मण निंदा देवता निंदा तो <clears throat> त्रयी विद्याहिंकार त्रय लोक स प्रस्ताव अग्निर्वायुरादित्य सौदी नक्षत्राणी भयांशी मरीचय स प्रतिहार सर्पादं गर्वापि तरस्तं निधनम् एतत्साम सर्वस्मिन् प्रोतम् त्रयी विद्याहिङ्कारः त्रयः इमे लोकः स प्रस्तावो अग्निर्वायुरादित्यः स उद्गीथो नक्षत्राणि वयांक्षी मरीचय स प्रतिहारः सर्पादं गर्वापि एतत्साम सर्वस्मिन् प्रोतम त्रय विद्या हिंकार ये तीन तीन त्रिक करके पांच बताएंगे तीन तीन का पांच बताएंगे इसमें कोई विशेष शाम का नाम नहीं है अमुक शाम अमुक शाम कोई नाम नहीं ये सब में प्रतिष्ठित है शाम सारे संसार में प्रतिष्ठित हो गया शाम क्यों विशेष नाम नहीं देंगे शाम का ये कहना चाहते हैं त्रय विद्या हिंकार हाँ। ऋग यजु साम जो तीन विद्या है ऋग्वेद यजुर्वेद वेद जो वेद त्रयी कहते हैं माने तीन वेद दृष्टि से हिंगार भक्ति की उपासना करें और त्रय इन्हें लोकहा सब प्रस्ताव भूर स्व जो तीन लोग हैं भू भुवस्व पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग भूर स्व इमे लोग ये जो लोग हैं सब प्रस्ताव वो प्रस्ताव की उपासना करें तीन लोग दृष्टि से और अग्निर्वायु आदित्य सब तीन देवता अग्नि वायु आदित्य पृथ्वी की देवता है अग्नि अंतरिक्ष देवता वायु स्वर्ग की देवता आदित्य अग्नि वायु आदित्य तीन देवता दृष्टि से उद्गीत भक्ति की उपासना करें नक्षत्राणी वयांशी परिचय हाँ, प्रतिहारा कहते हैं माने तारे दृष्टि से नक्षत्र दृष्टि वयांशी माने पक्षिया दृष्टि पक्षी को वयांशी बोलते वयशी वयांशी मरीचा या सूर्य के किरण ये तीनों मिलके एक होगा ये प्रतियात ये चलने वाले होते हैं तो ये नक्षत्र बयांग से मरीज दृष्टि से मरीजी दृष्टि से प्रतिहार होती की उपासना करें और सर्पा गंधर्वा तरह सर्प दृष्टि गंधर्व दृष्टि पितृ दृष्टि से ये निधन भक्ति की उपासना करेगा ये तत् शाम सर्वस्विन पुरोतम ये शाम कोई विशेष शाम में प्रतिष्ठित नहीं विशेष में प्रतिष्ठित नहीं है सर्वत्र प्रतिष्ठित आई सर्वस्व पूर्णम सारे संसार में प्रतिष्ठित है इतना ही संसार होता है विचार करने का तीन विद्या और तीन लोक और अग्निवायु आदित्य तीन देव यही होता है सारा संसार का रूप मुख्य रूप और नक्षत्र बयांशी मरीसी और सर्प गंधर्व पिता यही सब हो जाता है सारा संसार का स्वरूप सिद्ध हो जाता है इसमें इसलिए सर्वस्वी पुरोत्तम का ये जो शाम है इसका विशेष नाम भी नहीं है हाँ, रेवत्या सकुरिया राजन आदि कोई नाम नहीं इसका विशेष नाम में सभी में ओतप्रोत प्रतिष्ठित है शाम ने कहा भाष्य में कहते हैं त्रय विद्या हिंकार कहा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तीन दृष्टि से हिंकार की उपासना करें अग्नियादि सामना अनंतरिया त्रय विद्या पहले अग्नियादि दृष्टि से उपासना की थी अब ये त्रय विद्या कैसे है कहते हैं अग्नि आदि जो साम है उसके अनंतर होता है तीन विद्या कहा अग्नियादि कार्य तो श्रुते कहते हैं तीनों विद्या को अग्नियादि का कार्य सुनाई दिया है कहीं श्रुति में ऐसा है श्रुति टीका में देंगे अग्निवायु आदित्य का कार्य सुनाया है तीनों देवों को ऐसा है इसलिए अग्नियादि उपासना के पश्चात तीन विद्या की उपासना बताई जा रही है त्रय विद्या द्वारा अग्नियादि सामना आनंद अग्नियादि जो शाम की उपासना बताई पहले उसके पश्चात त्रय विद्या या तीनों विद्या की उपासना क्या संगति है इसकी अग्नियादि की उपासना के बाद कहा अग्नियादि कार्यत्व है ये तीनों देव विद्या जो है ऋग यजु शाम को अग्नियादि का कार्य सुनाई पड़ेगा आपको टीका में देंगे कहीं आया है ऋग्वेदो और अग्निर यजुर्वेदो वायोर आदित्य सामवेद ऐसा कहा है अग्नि से ऋग्वेद हुआ है और वायु से यजुर्वेद हुआ है और आदित्य से सामवेद ऐसा कहीं स्तुति है टीका में देंगे अभी अग्नि आदि का कार्य दिखाई पड़ते हैं तीनों विद्या तीनों वेद इसलिए कहा अग्नि आदि कार्य सुने इसलिए हिंकार प्राथम्या सर्व कर्तव्या नाम हिंकार प्रथम है हाँ। और सभी कर्तव्यों में तीनों वेदों के बिना कोई कर्तव्य होता नहीं नहीं हो गया हाँ। प्रथम प्राथम्य सादृश्य है दोनों में तीनों वेदों में हिंकार इसलिए तीनों वेद दृष्टि से इंकार होती उपासना त्रय में लोग कहा तत्काव्यवाद अनंतरा इति प्रस्ताव कहते तीनों लोक तीनों विद्या विहित कार्य इससे होना है तीनों विद्या के विहित जो कर्म होगा वो कर्म का कार्य है लोक उस कर्म का कार्य होता है माने तीनों विद्या के द्वारा साध्य जो कर्म होगा वेदोत्रयी के द्वारा साध्य कर्म वो कर्म का फल है लोक इसलिए कहा त्रय में लोका तत्कार्य तो है त्रय विद्यावान कार्य एक त्रय तीनों विद्याओं का कार्य है क्यों साक्षात कार्य त्रय वेद त्रय विहित कर्म कर्म का कार्य लोग अंतरा इति प्रस्ताव प्रस्ताव हो जाएगा अग्नि आदि नाम उदगित श्रेष्ठात अग्नि आदि देवता जो है अग्नि वायु आदित्य श्रेष्ठ है ये उदगित कहला है नक्षत्र आदि नाम प्रतिहित प्रत्यार्थ नक्षत्र आदि इधर उधर होने वाले हैं चलने वाले हैं नक्षत्र हो चाहे नक्षत्र में तारे अथवा पक्षियां हो चाहे सूर्य के किरण हो इधर उधर हो जाते हैं इसलिए प्रतिहार कहा सर्पादि नाम धकार सामान्य निदात्म सर्पादि में धकार की सामान्य कहते हैं सर्प में धकार कहा जाए निधनम है ना वहां सर्पा गंधर्वा पिधर में गंधर्व में धकार है तीनों मिलके एक है वो सर्पा गंधर्वा पितर वहां धकार है सर्पादि में तीनों मिलके एक करना है मतकार है गंधर्व शब्द में है सर्पादि नाम धकार सामान्य सर्पा गंधर्वा पितर में धकार है गंधर्व में है तो तीनों मिलके एक है ना एक एक अवय थोड़ी है तीन दिन का एक एक करके उपासना बताई जा रही है पांच है पांच बनाया तीन दिन का एक एक तो सर्पा गंधर्वा पितर में धकार सामान्य सर्पादि नाम धकार सामान्य निधन निधन में धा है सर्पादि में भी धा है सादृश्य है इसलिए निधनत्व ये सामा नाम विशेषाभाव इस शाम का कोई नाम नहीं दिया सक्वरिया राजमत रेवत्य कुछ नहीं बोला नाम नाम भाव से समुदाय साम शब्द समुदाय है साम शब्द है सर्वस्विन पुरोत्तम सर्वत्र प्रतिष्ठित है क्यों नाम होता तो उसी में प्रतिष्ठित होता पशु में प्रतिष्ठित होता है देवता में प्रति नाम होता तो नाम है ही नहीं तो सब सर्वत्र प्रतिष्ठित है देखो त्रय विद्यादि सर्व सर्वम यदि विचार करके चलेंगे तो ये जो पांच त्रिक में बताया हुआ है इससे अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं मिलता यही होता है त्रय विद्यादि ही सर्वम त्रय विद्यादि ही सारा संसार होता है इससे अतिरिक्त संसार होता ही नहीं सर्व सर्वदृष्टि से करना इसकी उपासना कहा त्रैविद्यादि दृष्टिया हिंकारादि साम भक्त है उपास्य त्रैविद्यादि की उपासना नहीं है त्रैविद्या आदि दृष्टि से साम के जो अवयव है हिंकार आदि वो उपास्य है यहाँ त्रैविद्या दृष्टिया त्रैविद्या दृष्टि करके हिंकार को त्रैविद्या समझना ऐसा तो हिंकार आदि साम भक्त है उपास्य है त्रैविद्यादि उपासना है साम के जो अवयव है वही भक्ति माने अवयव वही है उपास्य है अतिथेशु अपनी उपासनेशु येषु येषु प्रोतम यद्यत साम तत्ष्ट पूर्व उपासना में वैसे बना जिस जिस साम में जो जो प्रतिष्ठित हो गए हैं जिन जिनों में जिन जिन उपासनाओं में जो जो शाम प्रतिष्ठित हो गए उन दृष्टि से शाम की ही उपासना समझ पूर्वों में भी यहां नहीं कि तत्व देवताओं की उपासना या नहीं है हाँ, या शाम की उपासना है कर्मांगाणाम दृष्टि विशेष राज्य से इव संस्कार शाम के संस्कार हो जाता है कहते हैं जैसे कर्म का अंग होता है घृत में छाया देखना यजमान और पत्नी दोनों मिलकर घी में छाया देखते हैं उससे क्या होगा एक एक संस्कार ही हो जाता है और कोई काम नहीं घृत छाया जैसे यज्ञागानाम एक कर्म को जो अंग है कर्म करते यज्ञ करते समय घृत छाया भी एक होता है वहां कटोरे में घी रखते हैं पिघला हुआ घी उसमें छाया देखते हैं यजमान पत्नी तो कर्मांग नाम दृष्टि विशेषण केवल दृष्टि डालना है वहां बाकी कुछ करना नहीं है दृष्टि मात्र करने से आज्यस्य युवा संस्कार घी संस्कृत हो जाता है इसी प्रकार यहां भी उन उन दृष्टि से हिंकार आदि की उपासना करेंगे तो संस्कृत हो जाएंगे शुद्ध हो जाएंगे हिंकार आदि ऐसा कहा ठीक है अग्नियादि दृष्टि अनंतरम त्रय विद्यादि दृष्टि विधान है कारण अग्नि अग्नियादि दृष्टि के पश्चात पहले अग्नि दृष्टि से उपासना बताई थी शाम की अब अग्नि दृष्टि के पश्चात त्रय विद्या दृष्टि विधान मतलब तीनों विद्या आदि दृष्टि यहाँ तीन पांच त्री का तो इसके विधान में कारण बताते हैं अग्नियादि कार्यत्व सुनते हैं ये अग्नियादि का कार्य सुनाई पड़ा है त्रय विद्या आदि को कहा कैसे सुनाई पड़ता है तो आगे बताएंगे ठीक है यद अग्नियात्मकम शाम उपास्य भूतम जो अग्निस्वरूप शाम की उपासना बताई गई थी तस्मात आनंतरियम उसके पश्चात ये जो त्रय विद्या आदि की उपासना बताई जा रहा है उपास्य आया त्रय विद्याया विद्यते हाँ। उपास्य जो त्रय विद्या है उसके आनंतर त्रय विद्या में ठीक हो जाता है क्यों ऋग्वेदो अग्नेर ऐसा आया अग्नेर ऋग्वेद अग्ने पंचमी अग्नि से ऋग्वेद की उत्पत्ति बताई जाए यजुर्वेदो वायु वायु से यजुर्वेद और आदित्या सामवेद इति श्रुति कहें ऐसी श्रुति है आदित्य से सामवेद ऐसा आया करता है वेदों में दिखाया है इसलिए अग्नि दृष्टि का अंतर त्रय विद्यादि दृष्टि करना ठीक है ये त्रैया त्रैया त्रैया तत्कार्य तो कहा त्रैया मान तीनों का तीनों वेदों का तत्कार्य माने अग्नि आदि कार्य तो अलवा जान, जाना जा, जानने से कहा तो भाष्य में कहा था त्रय में लोका तत्कार्य जो कहा था तीनों लोग वो तीन वेद विहित कार्य है बोला कैसा है तो कहते हैं तत्कार्य तो है त्रय विद्या साध्य कर्म फल ये जो लोग जो है तीनों वेद के द्वारा साध्य जो कर्म होगा वो कर्म का फल है त्रय विद्या साध्य जो कर्म है कर्म का फल जो है इसलिए तीनों वेदों का साक्षात कार्य तो नहीं होता जगत किंतु तीनों विद्या से होगा कर्म तीनों वेद से होगा कर्म अब कर्म होने से फल मिलेगा लोक मिलेगा इस तरह से परंपरा से तीनों विद्या से लोक हो जाते हैं तीनों वेदों से कहा आगे कहते हैं कथम सर्वस्विन प्रोतम उत्तम ये शाम सर्वत्र प्रतिष्ठित है कैसे बोल दिया कथम सर्वस्विन प्रोतम उत्तम त्रय विद्या तो प्रोतत्व इन शाम को कहना चाहिए तीन तीन वेद आदि में उत्प्रोत है बोलना चाहिए था प्रतिष्ठित है बोलना चाहिए था जिस दृष्टि से उपासना कर रहे थे उसे में प्रतिष्ठित बोलना चाहिए तो सर्व सर्वस्वी पुरुतम कैसे बोलती है शंका है कहा त्रय विद्यादि ही सर्वम विचार करके देखने से ये तीनों विद्यादि जो दिया या पांच त्रिक जो दिया इस मंत्र में इससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता सारा संसार इतनी होता है टीका में कहते हैं कथम अत्र त्रय विद्यादि दृष्टिया साम सामनो ध्येयत्व गम्यते ये त्रय विद्यादि दृष्टि से साम उपास्य है ध्येयत्व माने उपास्यत्व कैसे जाना जाता है तो कहा त्रयी इत्यादि कहा त्रयी विद्यादि दृष्टिया हिंकारादि साम भक्त उपास्य है त्रय विद्यादि दृष्टि से हिंकारादि साम भक्ति उपास्य है यहाँ न तो अश्याम प्रतिज्ञायाम पूर्वेण संदर्भेण विरोध संग्राम अर्थी कहा ये जो हमने जो प्रतिज्ञा कर ली त्रय विद्या दृष्टिया एकारादि साम बोलते उपास्या प्रतिज्ञा की ये प्रतिज्ञा में पूर्वोक्त तो उपासना का विरोध भी नहीं पूर्व भी जो कहे गए थे न तो अश्याम प्रतिज्ञायाम यहाँ प्रतिज्ञा क्या की त्रय विद्यादि दृष्टिया एकारादि शाम भक्त या उपास्या ये प्रतिज्ञा है त्रय विद्यादि दृष्टि से शाम के जो अवयव है उपास्या जो बताया ये प्रतिज्ञा में पूर्वेण संदर्भेण विरोधो न शंका न अर्ती पूर्व संदर्भ के साथ में विरोध भी नहीं तत्त दृष्टि से शाम भक्ति की उपास्य हुए थे पहले भी ये बता रहे हैं इसलिए भाष्य में कहा अतिथेश भी सामोपासन सु पूर्व में भी जो शाम उपासना हुई है सारे उसमें येसु येसु प्रोतम यत्यत शाम जिन जिन में प्रतिष्ठित था जो जो शाम तद दृष्टिया दृष्टि से तद उपासना वो शाम की उपासना थी पूर्व में इसलिए यहां भी शाम की उपासना होगी ठीक है तत्र हेतु महा उसमें हेतु बताते हैं क्या होगा शाम के संस्कार हो जाता है ऐसे दृष्टि करने से जैसे कर्मांगाणाम इत्यादि बोला था कर्मांगाणाम दृष्टि विशेषण आज्य से ही संस्कार कहा कर्मांग कर्म के अंग जो होते हैं दृष्टि विशेषण लगा देने से क्या होगा आज्य संस्कृत हो जाता है दृष्टि विशेष से ठीक है कहा दर्श पूर्णमाशा अधिकार है दर्श पूर्णमाशाभ्याम एजेता वाक्य है उस अधिकार में दर्श अभ्याम स्वर्ग काम एक वाक्य है दर्श पूर्णमाशा अधिकार है जब दर्श याग पूर्णमाश याग की अधिकार जब चलाया मीमांसा में उस अधिकार में कहा पत्नी अवेक्षितम आज्यम भवती कहा देखो ऐसे घी रखने से आज्य नहीं घी नहीं होगा वो देवता नहीं लेंगे उसको यजमान के पत्नी के द्वारा जो दृष्टि पड़ जाए पत्नी की दृष्टि पड़ जाए तो आज्य शुद्ध हो जाता है उसी को आज्य शब्द से कहा जाता है पत्नी अवेक्षितम आज्यम भवती ऐसा शब्द आया यजमान के पत्नी के जो दृष्टि पड़ी उसमें छाया गृह छाया जो होते हैं तो उसका नाम आज्ञ हो जाता है फिर देवता खुश होकर उसको स्वीकार करेंगे लेंगे आहुति को ऐसा आ गया पत्नी अवेक्षितम आज्यम भवती ये वाक्य आया दर्श प्रमाश के अधिकार में दृष्टि विशेषण आज्यम संस्कृत है और दृष्टि विशेषण दृष्टि करने से क्या होगा घी संस्कृत हो जाता है इसी प्रकार यहां भी शाम शुद्ध हो जाएगा हिंकार आदि शुद्ध हो जाए क्या करने से तब तक दृष्टि करने से ये कहा तथा साम प्रभेदान दृष्टि विशेषत्व अविशेषाद इसी प्रकार साम का भी हिंकार आदि जो साम है उनके लिए भी दृष्टि करने को बोला तब तक लोकादि दृष्टि दृष्टि विशेष तो अविशेष समान होने से तेसाम कर्मांगानाम तत्त तत्त अनंग दृष्टिया संस्कृत संस्कृत कहा उन कर्मों के अंगों का भी तत्त अनंग दृष्टि के द्वारा संस्कार ही होता है यह अर्थ है कर्म का अंग नहीं है ये अभी संस्कार हो जाता है इसलिए कहा ये बता दिया आगे मंत्र है सय एवं ये तत्साम सर्वस्व प्रोतम वेद सर्व भवती सय एवं ये तत्साम सर्वस्व प्रोतम वेद सर्वती या जो कोई भी हो ये तत्साम ये शाम जो पांच त्रिक में है तीन तीन करके पांच त्रिक है इस शाम को सर्वस्व प्रोत्तम सब में प्रतिष्ठित ऐसा समझता है उस सर्वेश्वर हो जाता है सर्वम हो जाता है सर्वेश्वर होगा सबका ईश्वर होगा मालिक होगा ये फल है बता राशि में कहते हैं सर्व विषय शाम विधा फल सर्व विषय शाम को जानने वाले का फल बताते हैं सर्वम भवती माने सर्वेश्वर भगवती बोल दिया सर्वेश्वर होगा वो निरूपरिचरित निरूपचरित सर्वभावी ही दीक्षेभ्यो बलि प्राप्ति अनुपत्ति कहा निरूपचरित सर्वभाव होने पर तो क्या होगा दीक्षे दिशाओं के देवताओं के द्वारा बलि प्राप्ति नहीं हो सकती है इसलिए सर्वरूप होना ये कहा टीका में कहते हैं इसमें अतः यथास्तुतम सर्वात्मत्व क्यों न चाहे अब ये सर्वात्म भावी हो गया वो सर्वेश्वर नहीं हुआ सर्वम भगवती मंत्र है तो यदि सर्वरूप हो गया तो अन्यों के द्वारा बलि उपहार लेना संभव नहीं होगा उसको सर्वेश्वर जब होगा तब अन्यों के द्वारा बलि होगा ये कहना चाह रहे हैं ये बोल रहे हैं भाष्य में निरुपरिचित सर्वाभे सर्वभाव यदि हो गया वो सावशेष रहा ही नहीं निर्विशेष हो गया सर्व संपूर्ण रूप हो गया तो दूसरों से बलि लेना माने बलि माने उपहार लेना नहीं बनेगा आगे आएगा बलि पावाहरण भी आएगा उसको बलि ले भेंट कर भेंट चढ़ाएंगे हाँ तो भेद लेना नहीं मिलेगा सर्वरूप हो गया तो क्या क्या दूस, दूसरा रहा ही नहीं इसलिए सर्वम भवती का अर्थ सर्वेश्वर भवती अर्थ करना पड़ेगा ये कहा ये सर्व शब्द गौण प्रयोग है मुख्य नहीं है उपचार है ये बताया निरुपचरित सर्वाधि दिख से बलि प्राप्ति अनुपत्ति बोल दिया ठीक है कहा यही अथा यथाश्रुतम सर्वात्मा पे क्यों न जैसे सर्वम भवती आया है सर्व सर्वरूप हो जाता है ऐसे क्यों न माना जाए भाष्यकार ने कहा कि सर्वेश्वर भगवती उसका अर्थ कैसे कर दिया तब तो कहते हैं निरुपचरिता वास्तव में माने गौण प्रयोग नहीं मानेंगे उसको सर्वम सब सर्वेश्वर भगवती अर्थ तो नहीं करेंगे सर्वरूप हो जाता है करेंगे तो सर्वभाव यदि हो गया सर्वरूप हो गया तो अन्य व्यक्ति रहा नहीं उसका तो फिर अन्यों से भेंट कैसे देगा सारे उसको भेंट देते हैं आगे शब्द आएगा नहीं बलि प्राप्ति मानी भेंट प्राप्ति अनुपत्ति सिद्ध नहीं होगा ये बता दिया समय हो गया है यही रखते ठीक कर ब्रह्मया